अभी खालिद ने फोन रखा ही था कि एक आदमी उसकी तरफ भागता हुआ आया वो खालिद का सेक्रेटरी मालूम पड़ रहा था उसने आते ही खालिद को बताया सर अपने पोखली वाले चौल में पुलिस ने रेड डाल दी है बोल रहे हैं कि वहां से इलीगल धंधे किए जाते हैं ऐसी उनको खबर मिली है एक के बाद एक करके खालिद के पास फोन आने लगे शहर भर में उसके जितने ठिकाने थे और जितने बिजनेस थे पुलिस हर जगह पहुंच रही थी एक एक करके पुलिस ने हर जगह रेड मारना शुरू कर दिया था विक्रांत तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इन छोटे मोटे चूजों की छापेमारी से डर जाऊंगा मुझे बस एक फोन घुमाने की देर है तुम्हारा सारा गेम एक मिनट में खत्म समझे खालिद ने विक्रांत की तरफ घूरते हुए कहा अभी खालिद ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि वहां पर चार पांच पुलिस वाले भी पहुंच गए पीछे चलो पीछे चलो सब सब लोग अपनी अपनी आईडी निकाल लो चुपचाप से एक पुलिस वाले ने कहा दरअसल ये एंटी ड्रग और पोर्नोग्राफी डिपार्टमेंट के ऑफिसर अतुल सिंह की टीम थी वो यहाँ पर चेकिंग के लिए पहुंचे हुए थे अतुल ने आते ही कहा चुपचाप से ये सब लोग अपनी अपनी आईडी निकाल लीजिए अब ये कोई मत कहना कि मेरे पास अभी कोई आईडी नहीं है अगर आईडी नहीं है तो सीधे जाकर गाड़ी में बैठो और हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो फिर वहीं बैठकर आईडी मंगाना एक मिनट इंस्पेक्टर साहब आपके पास सर्च वारंट है खालिद ने आगे आकर सवाल किया और अगर आपके पास सर्च वारंट नहीं है तो फिर आप किसके कहने पर यहाँ छापेमारी करने आए हैं हम बस चेकिंग के लिए आए हैं कोई छापेमारी नहीं कर रहे जल्दी करो अपनी आईडी निकालो अतुल ने खालिद को जवाब देते हुए कहा फिर खालिद ने विक्रांत और अतुल दोनों को घूरते हुए कहा तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है कि तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो मैं मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें दोनों को लाइन पर ले आऊंगा बकवास बंद कर और चुपचाप आईडी निकाल अपनी वरना ले चल के पुलिस स्टेशन पर ठूस दूंगा अतुल ने खालिद को हड़काते हुए कहा अब ना चाहते हुए भी खालिद को और उसके पूरे स्टाफ को अपनी अपनी आईडी अतुल को दिखानी पड़ी सबकी आईडी चेक करने के बाद अतुल ने कहा ओ लगता है हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कोई बात नहीं इतना कहकर अतुल और उनकी टीम वहां से तुरंत चली गई अतुल के जाने के बाद फिर से खालिद का फोन बजने लग गया उसके आदमियों ने फोन करके बताना शुरू किया कि उसके ठिकानों पर छापेमारी के लिए आई पुलिस अब लौट चुकी है हम्म। खालिद ने विक्रांत को घूरते हुए कहा अच्छा तो ये था तुम्हारा सारा प्लान हो गया सब दिखा ली अपनी सारी ताकत बस इतना ही दम था विक्रांत ने खालिद की बात का कोई जवाब नहीं दिया उसने अपनी जेब से फोन निकाला और इसका लॉक खोल के खालिद के आगे रखकर एक रिकॉर्डिंग प्ले कर दी इस रिकॉर्डिंग में साजिद की आवाज रिकॉर्ड थी उसने पुलिस के आगे सीधा बयान दिया था कि खालिद ने ही उसे छिपने के लिए जगह दी हुई थी और खालिद के सभी इलीगल धंधों के बारे में भी साजिद ने पुलिस को बताया हुआ था सुना तुमने साजिद ने साफ साफ कहा है कि तुमने ही उसे छुपाया था और उसने तुम्हारे सारे काले धंधों के बारे में भी बता दिया है अब पुलिस के पास तुम्हारे सभी काले कारनामों का सबूत है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है तुम अपनी कमर सीधी कर लो और जेल जाने की तैयारी शुरू कर दो विक्रांत ने खालिद को रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद कहा सच में विक्रांत अब तुम मुझे पकड़कर जेल ले जाओगे ओह मैं तो डर गया खालिद ने विक्रांत को चिढ़ाते हुए कहा तो हम्म तुम्हारे जैसे पुलिस वालों से मैं अपनी मालिश करवाता हूँ मालिश समझे तुम्हारी औकात क्या है बे यहीं बैठा हूँ और यहीं बैठा रहूंगा जो उखाड़ना है उखाड़ लो रही बात पुलिस चार्जशीट की तो वो तो तुम लोगों का काम है बनाते रहो लेकिन कोर्ट में कैसे साबित करोगे कैसे साबित करोगे बच्चे वो सोचा है ए? खालिद की बात खत्म होती वहाँ मौजूद उसके आदमियों ने हंसना शुरू कर दिया उसके साथ ही विक्रांत भी जोर जोर से हंसने लगा वो टेबल पर रखे एक कप को हाथों से घुमाने लगा कप घुमाते घुमाते ही उसने खालिद की तरफ देखते हुए कहा अच्छा तो अब लग रहा है तुम्हें असली मजा चखाना पड़ेगा ऐसे नहीं मानोगे तुम हम्म खालिद ने चौंकते हुए कहा अभी और भी कुछ बाकी है क्या तुम्हारा जल्दी करो जो भी है मुझे भी तुम्हारी टांगे तोड़नी है अभी तब जाकर मेरा हिसाब पूरा होगा जल्दी करो जल्दी विक्रांत ने धीरे से वो कप उठाकर अपनी जेब में भर लिया और फिर अपना हाथ हवा में उठाकर आंखें बंद करके खड़ा हो गया खालिद के आदमियों को लगा कि विक्रांत अब एक्शन मोड में आने वाला है सो वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुके थे लेकिन विक्रांत अपने हाथों को हवा में करके काफी देर तक खड़ा रहा इस वक्त उसकी आंखें भी बंद थी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत आखिर करना क्या चाहता है विक्रांत को लगभग तीस सेकंड तक यूं ही खड़े देखने के बाद खालिद ने अपने आदमियों को इशारा करते हुए कहा मर्स साले को नौटंकी कर रहा है जैसे खालिद के आदमी विक्रांत की तरफ दौड़े वो जोर से चिल्लाता हुआ शॉप से बाहर की ओर भागने लगा और फिर पलक झपकते ही विक्रांत गायब हो गया सभी शॉक्ड रह गए किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था एक आदमी ने खालिद से कहा ये क्या था भाव ये साला गायब कैसे हो गया कोई काला जादू आता है क्या इसे सभी काफी डरे हुए नजर आ रहे थे समझ नहीं आ रहा है ये साला मुझसे डर कर भागा है कि मुझे ही डराने की कोशिश कर रहा है खालिद सोच में पड़ गया था तभी उसके एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा भाऊ भाऊ क्या हुआ बे इतना गला क्यों फाड़ रहा है क्या हो गया खालिद ने पूछा भाऊ वो साला आपका वाला कप लेकर भाग गया आए क्या खालिद शॉक्ड रह गया दरअसल जो कप लेकर विक्रांत गया था वो खालिद का स्पेशल कप था उसमें गोल्ड प्लेटिंग की हुई थी उस कप की कीमत मार्केट में तकरीबन बीस हजार तक की थी